सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै नारीतमस्तु मा विस्मृतावहै ॐ शान्ति वाचा मनसा प्राप्तुम् शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो न्यत्र कथं तदुपलभ्यते तत्व तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये सदश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावद्ध्यनुशासनम् इच्छा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा यदि यहाँ बाहर से भीतर जाने का क्रम माने इसका ये अर्थ होगा कि बोल के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते और मन से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते माने जप पाठ कीर्तन ये तो वाणी में हो गया और मन में ध्यान उपासना हो गई अब इससे भी अंतरंग बोले चक्षुषा साक्षी भाव से रूप से भी इसको नहीं प्राप्त कर सकते मान जैसे हम अपने राग को द्वेष को अपनी शांति को अशांति को समाधि को बिना किसी करण के देखते हैं उसमें कोई आंख कान नाक जीव की जरूरत नहीं पड़ती अपनी सुसुप्ति और स्वप्न अपने राग और द्वेष अपने अंतकरण की वृत्तियों को हम इंद्रियों से तो नहीं देखते हैं ना अरे मतलब कैसे देखते हैं हम खुद देखते हैं अपनी सुसुप्ति तुमने कैसे देखी है हमने खुद देखा है तो अपना स्वप्न किस कैसे देखा तुमने किस इंद्रिय से देखा बोले खुद देखा तो बोले ऐसे खुद देख के जो बात जानी जाती है भीतर ही भीतर चक्षु वो चक्षु है आत्म चक्षु है अंतर्दृष्टि है तो उस अंतर्दृष्टि से भी कोई परमात्मा को देखना चाहे तो नहीं देख सकता समाधि को देख सकता है सुषुप्ति को देख सकता है स्वप्न को देख सकता है राग द्वेष को देख सकता है शांति अशांति को देख सकता है विश्राम और श्रम को देख सकता है परंतु यदि कोई चाहे कि उलट के हम अपने आप को ही देख लें नहीं देख सकता तो बोले कैसे देखा जाए अस्थिति ब्रुवता अस्ति इति मनमानस्य अस्ति इति पश्यतः जो बोल रहा है अस्थि है जो सोच रहा है अस्थि और जो देख रहा है अस्थि उस मैं के अतिरिक्त अन्य देश में अन्य काल में अन्य रूप में परमात्मा की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है अस्थिति ब्रुवत अस्थिति मनवाना अस्तिति पश्यत पुरुषार्थ यंत्र प्रयोग है सारा अन्यत्र जो वक्ता है जो मनता है जो दृष्टा है उस पुरुष से अलग कोई परमात्मा का दर्शन भला कैसे कर सकता है यदि अलग दर्शन करेगा तो वो परमात्मा ही कैसे होगा अब एक विचार की बात पहले आपके पास ये जो शरीर के भीतर चैतन्य मालूम पड़ता है ये जड़ में से पैदा हुआ और जड़ में रहता है तो इसका उपादान कारण भी जड़ है मान मसाला जड़ है और जड़ ही इसका स्थान है और जड़ की मृत्यु ही इसकी मृत्यु है ये मत चार बाग का है कोई वैदिक इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता जीवन मैं ब्राह्मण हूँ मैं देह हूँ मृत्यु पर्यंत ये अभिमान बना रहे तो भी वैदिक दर्शन का जो दृष्टा है वो मृत्यु पर्यंत मैं देह हूँ ये वृत्ति के बने रहने पर भी अपने को देह स्वीकार नहीं करता तो यही मानेगा कि देह के बाद करता भोक्ता पापी पुण्यात्मा कर्म फल का भोगने वाला आत्मा जो है वो देह से बिल्कुल न्यारा है वैदिक दर्शन में इसके लिए गुंजाइश नहीं है तो जड़ द्रव्य से उत्पन्न आत्मा जड़ द्रव्य ही है ये बात चार बाग कहते हैं में जुगनू की तरह उड़ने वाला ऊपर नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने आने वाला बढ़ने वाला है देश के आश्रय से रहने वाला देश में आश्रित ये आत्मा है जड़ के शरीर के मरने से मरता तो नहीं लेकिन कर्म और वासना के अनुसार ऊपर नीचे आता जाता है और कर्म वासना के शुद्ध हो जाने पर ऊपर ही ऊपर जाता है देश में इसकी स्थिति है ऐसा जैन मानते हैं माने आत्मा का आधार देश है देश का आधार आत्मा नहीं है ये बात आप देखो ये निकला ना जैसे जड़ द्रव्य है ना ये आत्मा का आधार है और आत्मा का उपादान है और उसी में आत्मा की स्थिति है और उसी में आत्मा का लय है ये चार बात मानते हैं वैसे देश में ही अनादिकाल से ये आत्मा है देश में ही विचरण करता है, है? और निर्वासन होने से देश विशेष में ही जाता है ये जैन मत है माने देश आधार है और आत्मा आधे है बौद्ध मत ये है कि ये जो आत्मा है ये जैसे सेकंड पर सेकंड सेकंड पर सेकंड सेकंड पर सेकंड जैसे काल में होता है ना ऐसे क्षणिक विज्ञान संतान रूप है काल में पैदा होता मरता पैदा होता मरता पैदा होता मरता ये बह रहा है एकता जो मालूम पड़ती है ये संस्कार के कारण जैसे एक तरंग के धक्के से दूसरी तरंग दूसरी तरंग के धक्के से तीसरी तरंग तीसरी तरंग के धक्के से चौथी तरंग है ना तरंग में जैसे अनुगत संस्कार रहता है इसी प्रकार आत्मा में भी ज्ञान में भी संस्कारों की अनुगति रहती है और वो क्षण क्षण में पैदा होता मरता रहता है क्षण क्षण में तो जब ये निर्वासन हो जाएगा तो इसका आत्यंतिक उच्छेद ही हो जाएगा उसी का नाम निर्वाण की प्राप्ति होगी और जब तक वासना का उच्छेद नहीं होगा तब तक जीवत्व का उच्छेद नहीं होगा तो देखो चार बाग के मत में मरना ही मुक्ति हो गई और जैन मत में ऊपर जाना मुक्ति हो गई हल्का होने से और वासना का क्षीण होने से जो विज्ञान में संतानत्व तो है ना उसका निर्माण हो गया तो जन्म मृत्यु नहीं है तो शरीर हाँ, शरीर में जन्म मृत्यु है तो आत्मा में भी जन्म मृत्यु है शरीर में आना अब अब जरी जरा इस पे विचार करें तो क्या निकलेगा कि काल में जिसका परिवर्तन हो रहा है वो भी जड़ द्रव्य ही है और देश में जिसका आना जाना हो रहा है वो भी जड़ द्रव्य ही है और जड़ द्रव्य से जो उत्पन्न हुआ सो भी जड़ द्रव्य ही है तो वैदिक दर्शन जो है वो आत्मा को काल में या देश में या द्रव्य में उत्पन्न अथवा रहने वाला अथवा मरने वाला अथवा है ना नहीं मानते हैं वैदिक दर्शन की विलक्षणता तो ये ज्ञान क्या है तो ज्ञान वो है जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये और इनके भूत द्रव्य मालूम पड़ते हैं और इनका स्थान भी मालूम पड़ता है क्योंकि बिना स्थान के कोई द्रव्य नहीं मालूम पड़ सकता और इनका काल भी मालूम पड़ता है माने युगपथ एक साथ जिसको देश काल और द्रव्य तीनों जिसको भागते हैं उसका नाम ज्ञान है तो पूर्ण देश और अल्प देश अल्पकाल और पूर्ण काल अल्प द्रव्य और पूर्ण द्रव्य तो तीनों तीनों की दोनों अवस्थाएं जिससे भागती हैं उसका नाम ज्ञान है देश काल वस्तु का आधार ज्ञान है आत्मा है आत्मा का आधार देश काल वस्तु नहीं है आत्मानात्म विवेक करने के लिए ये परिपाटी ग्रहण किए जाते हैं अब कल आपको जो सुनाया था जैसे घड़ा फूट गया बोले तो घड़े का अभाव हो गया नहीं वहाँ बुद्धि घड़े घड़े की आकृति तो फूट गई लेकिन मिट्टी का अभाव हो गया ये तो बुद्धि में नहीं आवेगा इसलिए घट में जो अस्तित्व था उसमें से केवल आकृति का ही लोप हुआ मृतिका रूप अस्तित्व तो रह गया तो मृतिका के बाद जल रूप अस्तित्व जल के बाद हम लोगों की परंपरा इस संबंध में ऐसी है क्योंकि हमारे पास पांच इंद्रियां हैं और पांच विषयों का ग्रहण होता है जैसे नाक से हम एक अद्भुत वस्तु ग्रहण करते हैं गंध वो न जीव से मालूम पड़े न आंख से न कान से न त्वचा से वैसे ही हम जीव से एक अद्भुत वस्तु ग्रहण करते हैं रस और वो लेबोरेटरी में जांच करके हम ये नहीं देखते हैं कि पानी है कि नहीं है तो हम इस लेबोरेटरी में शरीर में जो हमको पांच परस्पर विलक्षण वस्तुओं का ज्ञान होता है गंध रस नहीं है रस गंध नहीं है गंध रस रूप नहीं है, है? और गंध रस रूप स्पर्श नहीं है और इस तरह से तो शब्द स्पर्श रूप रस ये पांच विषय हमें इन पांच मशीनों से इस शरीर में मालूम पड़ता है इसलिए इन पांच इंद्रियों और पांच विषयों का आश्चर्यभूत जो पांच द्रव्य हैं उनमें एक दूसरे के एक में मिल जाने के बाद भी अभाव प्रत्यय नहीं होता ये आकाश रूप है कहीं अहम रूप है ये बुद्धि रूप है वृत्ति रूप है है ना ये आत्म रूप है ये सत प्रत्यय हाँ। असल में हम सद बुद्धि को ही सत प्रत्यय बोलते हैं ना सन घट सन पृथ्वी सती हाँ। आत्मा सन अच्छा कहो कि अच्छा हम अभावी बुद्धि को ग्रहण करें तुम्हारी भाव बुद्धि को ग्रहण न करें तो क्या होगा घटा भाव को ग्रहण करें तो अभाव प्रत्यय की विशेषता बताता हूं अभाव प्रत्यय भाव प्रतियोगी और साधिष्ठान होता है है ना किसी चीज का जब अभाव मालूम पड़ेगा जैसे घड़ा नहीं है तो जो नहीं है वो भी मालूम पड़ेगा क्या नहीं है है ना जब जब अभाव प्रत्यय होगा तब क्या नहीं है किसका अभाव है ये भी मालूम पड़ेगा और जिसको मालूम पड़ेगा वो भी होगा और जिसमें मालूम पड़ेगा सो भी होगा अभाव की जो प्रतीति होती है वो हमेशा अपने विरोधी भाव की तो प्रतियोगिनी होती है प्रतीति और अधिष्ठान सहित होती है उसका दृष्टा होता है जैसे जब कहेंगे कि घटो नास्ती ये जो प्रत्यय बनेगा है तो पूर्वम घट आतीत ये तो संस्कार रूप से अभाव प्रत्यय में अनुगत रहेगा और अहम अस्मी मैं हूं घड़े का अभाव है अगर ये वृत्ति किसी को बनेगी ना तो घड़ा नहीं घड़े की वृत्ति का लोक कहाँ हुआ खड़े का अभाव है प्रपंच का अभाव है समुचय प्रपंच का ले लो प्रपंच का अभाव है तो अभाव प्रतियोगिक जो प्रपंच है जिससे अभाव सब प्रतियोगी है ना प्रपंच का प्रतियोगी जिससे अभाव सब प्रतियोगी जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी होता है तो किसका अभाव हुआ बोले घड़े का प्रपंच का है? तो किसका अभाव हुआ बोले घड़े का प्रपंच का है? तो प्रपंच प्रतियोगी हुआ अभाव में अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों ही होते हैं लो और दूसरे अभाव का प्रत्यय किसी को होता है ज्ञान स्वरूप आत्मा रहेगा तब उसको अभाव की सिद्धि होगी नहीं तो होगी नहीं तो एक नियम ये अकाश से निकलता है इसमें से कि यस्मिन विषय सत सत इति बुद्धि कदापि न व्यभिचरती ऐसा कोई अनुभव बताओ जिसमें मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव होवे अच्छा एक तीसरी बात इसके संबंध में और ध्यान देने लायक है अभावा अस्थि घड़े का अभाव है, है? ये अन्य पुरुष के रूप में मालूम पड़ेगा ना अभाव अस्थि को ही जान आती अभाव थी कौन जानता है कि अभाव है कौन जानता है अच्छा अभाव अस्थि में सत प्रत्यय अनुगत है कि नहीं जैसे भाव अस्थि भाव है वैसे अभाव है ये अभाव के साथ है कहाँ से जुड़ा यदि आत्मा का अस्तित्व न होता यदि आत्मा ही आत्म स्वरूप ज्ञान ही अभाव से तादात्म्य हो करके अभाव का अनुभव न करता तो अभाव के साथ अस्थि ये कभी जुड़ नहीं सकता था तब ये कहो कि अभाव नहीं है वहाँ भी बोलना पड़ेगा नहीं है है के बिना काम नहीं चलेगा तो ये प्रत्येक वस्तु में है कहाँ से आ जाता है क्योंकि मैं हूँ है ना क्योंकि मैं हूँ आत्मा है ज्ञान है इसलिए ये आत्मा है यही जब अभाव पर चढ़ता है तब बोलता है कि अभाव है और जब भाव पर चढ़ता है तब बोलता है भाव है ये आत्मसत्ता के तादात्म्य से ही है और नहीं है हाँ। इन भाव है और अभाव है इन दोनों का अनुभव आत्मसत्ता से ही होता है हाँ। अब जरा एक दूसरी मैंने वो बात तो आपके ध्यान में आ गई होगी कि अभाव की जो प्रतीति है वो एक तो जिसका अभाव है हाँ। उसके साथ होता है और दूसरे अभाव का ज्ञान भी किसी को होता है तो जिसको ज्ञान होता है उसी को हम आत्मा उसी को ब्रह्म बोलते हैं अब एक बात आपको और रहा वैसे आप लोग तो बड़े जानकार हैं शिष्टों की सभा में ऐसे नहीं बोला जाता कि आपको बताते हैं है ना तो नहीं करते हैं ऐसे समझो आवृत्ति करते हैं ये जो अभाव है इसको नैयायिकों ने चार प्रकार का माना है प्राग भाव प्रध्वंसा भाव काल में काल में पैदा होना और मरना पैदा होने के पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा इसका नाम काल में भाव हुआ और घड़ा कपड़ा नहीं है और कपड़ा घड़ा नहीं है ये अन्योन्या भाव हुआ हो वस्तु का परस्पर अभाव और कि यहाँ घड़ा नहीं है घड़ा यहाँ बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है कोई चीज ऐसे समझो तो इसको अत्यंता भाव बोलते हैं वेदांत मत में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव जिस वस्तु का होता है उसका भी अत्यंता भाव मानते हैं क्योंकि वो काल से परिच्छि है वेदांत के मत में अभाव कोई वस्तु नहीं है अभाव अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता अधिष्ठान रूप ही है ये वेदांत का सिद्धांत है जैसे घटा भाव जो है वो भूतल से भिन्न नहीं है ऐसे ही अब देखो एक काल में जिसका प्रागभाव है पहले नहीं होना है और एक काल में प्रध्वंसा भाव है तो नित्य काल में अवयव न होने के कारण काल के निरवय होने के कारण है ना प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के बीच में जो वस्तु प्राप्त होती है उसका अत्यंता भाव ही है माने जन्म के पहले जो नहीं थी और मरने के बाद नहीं रहेगी और बीच में मालूम पड़ती है तो वेदांत के मत में उसकी क्या स्थिति है बोले कि देखो व्यवहार की दृष्टि से वो वस्तु होते हुए भी अंश रहित निरव निरवय निरवय अनंत काल क्रम में काल में काल तत्व में अधिष्ठानाभिन्न काल में है ना वो काल जो तुम वस्तु की उम्र के रूप में बता रहे हो वो कुछ नहीं है जब काल ही नहीं है तो वस्तु कहाँ से आवेगी अनादि अनंत अनादि भूत और अनंत भविष्य के बीच में जो तुम एक वर्तमान की झूठी कल्पना करके उसमें वस्तु की उपस्थिति स्वीकार करते हो असल में काल में भूत भविष्य वर्तमान का भेद ही द्रव्य सापेक्ष है वास्तविक नहीं है पारमार्थिक नहीं है इसलिए अल्प काल में भाषित होने वाली वस्तु वस्तुतः अधिष्ठान में नहीं है है इसलिए हाँ, इसलिए प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव वाली जो वस्तु है वो वस्तु भी अभाव रूप ही है और अभाव रूप होने से अधिष्ठान अधिष्ठान से अभिन्न नहीं है एक वेदांत की बात और सुनाता है ये वेदांती लोग कहते हैं कि हे तो जो तुम वस्तु में अन्योन्याभाव मानते हो जैसे घड़ा कपड़ा नहीं है और कपड़ा घड़ा नहीं है इसको अन्योन्याभाव बोलते हो कपड़ा घड़ा नहीं है और घड़ा कपड़ा नहीं है, हैं? तो दोनों देशव्यापी नहीं है माने घट देश में पट का अत्यंता भाव है और पट देश में घट का अत्यंता भाव है यही ना है? तो देश में अभाव होना तो अत्यंता भाव हो गया ना अन्योन्या भाव जो है वो अत्यंता भाव की अपेक्षा किंचित ही विलक्षणता नहीं रखता जैसे घट घटे नास्ती में घट का अत्यंता भाव बताते हैं तो यही बताते हैं ना कि अक्षर घटो नास्ती इस देश में गड़ा नहीं है तो पट देते घटो नास्ती घट देते पटो नास्ती घट देशे पटस्य अत्यंता भाव पट देशे से अत्यंता भावा पट देश में घट का अत्यंता भाव है और घट देश में पट का अत्यंता भाव है तो असल में है ना असल में घट का भी अत्यंता भाव है और पट का भी अत्यंता भाव है अत्यंता भाव होने से पंचभूत में पंचभूत में घट पट दोनों का अत्यंता भाव है और जब पंचभूत में घट पट मिट्टी नहीं वो तो कपड़ा भी तो माटी है असल में कपड़ा भी माटी है घड़ा भी माटी है उपादान तो दोनों की माटी है मृतिका है कपास भी माटी से पैदा हुई और घड़ा भी माटी से पैदा हुआ है तो विन्यास विशेष का ही नाम है ना मृतिका के विन्यास विशेष का नाम घट है और मृतिका के ही विन्यास विशेष का नाम घट है तो मृतिका में तो दोनों का अत्यंता भाव है और मृतिका में जब दोनों का अत्यंता भाव है तो अत्यंता भाव की अपेक्षा अन्योन्या भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी अत्यंता भाव ही है और अन्योन्या भाव भी अत्यंता भाव ही है अच्छा अब अत्यंता भाव जो है देखो अब वेदांत की एक और एक बात बता के आगे सुनाता हूँ हाँ। वो क्या है राम हाँ। की ये बात ध्यान में ध्यान में लाने लायक है वो वेदांत अध्यारोप की दृष्टि से प्रपंच का भाव नहीं बताता समार्थ की दृष्टि से प्रपंच का भाव बताता है इसको इसको आप ध्यान में ले लो जैसे व्यवहार की दृष्टि से घट और पट का अत्यंता भाव नहीं है परंतु मृतिका की दृष्टि से घट और पट दोनों मृतिका ही है और घट पट दोनों का ही अत्यंता भाव है तो हम परमार्थ दृष्टि से प्रपंच के अभाव का प्रतिपादन करते हैं आरोप की दृष्टि से प्रपंच का अभाव प्रतिपादन नहीं करते तो अब इसका अर्थ क्या हुआ देखो इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक लोग जगत के संबंध में जो कुछ प्रतिपादन करते हैं अध्यारोप की दृष्टि से वो ठीक है और नैया एक सांख योग है ना वैदिक अवैदिक अपने अपने दृष्टिकोण से प्रपंच का जैसा प्रतिपादन करते हैं वो बिल्कुल ठीक है हमें तो खंडन मंडन की कोई जरूरत ही नहीं है क्यों बोले वो अध्यारोप दृष्टि से प्रतिपादन करते हैं अध्यारोप दृष्टि का अर्थ क्या है कि जैसे चश्मे के रंग को रंग मान करके कोई वस्तु में रंग मान रहा हो ना तो हम चश्मे से भी रंग नहीं दिखता ये कहा कहते हैं हम तो कहते हैं वस्तु गत्या रंग नहीं है चश्मे से रंग नहीं दिखता है ऐसा थोड़ी बोलते हैं जैसे कोई हरा चश्मा लगाए हो और उसको कोई हरी हरी चीज दिखाई पड़ती हो तो हम उसको समझाने के लिए ये कहेंगे हैं क्या कि जिस चीज में तुम रंग देख रहे हो उस चीज में रंग का अत्यंत अभाव है लेकिन चश्मे से रंग नहीं दिखता ये हम नहीं कहते हैं है ना तो ब्रह्म में प्रपंच नहीं है ये बात तो हम बोलते हैं लेकिन प्रपंच तुम्हारे अंतकरण से दिखता नहीं है ऐसा कहाँ कहते हैं दिखना और होना ये दोनों दो चीज होती है वो पहले इसी का विवेक कर लो दिखती है इसलिए है ऐसा नहीं होता नीलिमा आकाश की मालूम पड़ती है इसलिए है ऐसा नहीं है तो अंतकरण अंतकरण का संपूर्ण विवेक करके और अंतकरण का अपवाद करके ज्ञान दृष्टि से अंतकरण का अपवाद करके देखो तो तुम्हारे स्वरूप में ये प्रपंच नहीं है और अपवाद दृष्टि से न देख करके आरोप दृष्टि से देखो तो ये संपूर्ण प्रपंच तुम्हारे अंदर दिख रहा है इसलिए प्रपंच अपने में अपनी दृष्टि से तो अनिर्वचनीय है और परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अनुभवा भाग रहा है और दृष्टि से नहीं है और व्यवहार दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से भाग रहा है तो ये बात ये बात सुनाए इसमें देखो इसका अब मंत्रारूढ़ इसको मंत्रारूढ़ इस बात को करते हैं मंत्रारूढ़ होना और मालूम पड़ना जगत में इसका विवेक करो है ना अस्तित्व धर्मवान पदार्थ अस्थि प्रत्यय और अस्थि प्रत्यय का साक्षी है ना एक तो जो बाहर अंतकरण के द्वारा जो बाहर और भीतर के भेद से युक्त भूत और भविष्य काल से युक्त है ना बाहर और भीतर की कल्पना से युक्त भूत और भविष्य की कल्पना से युक्त कार्य और कारण की कल्पना से युक्त अंतकरण के द्वारा जो हम पदार्थों को देख करके उनके स्वरूप का निर्धारण करते हैं वो एक है और बाहर भीतर की कल्पना भूत भविष्य की कल्पना कार्य कारण की कल्पना ये अंतकरण की वृत्ति मात्र है और ये ये जो है ये पूर्णा रूप से उड़ती रहती है कभी शांत होती है और मैं इसका साक्षी हूँ अपने को साक्षी रूप से जानना ये दूसरी चीज है बोले इतने से भी वेदांत सफल नहीं हुआ अभी वेदांत की सार्थकता अपने को साक्षी जानने से नहीं है अगर अपने को साक्षी जाने से जानने से ही मनुष्य कृत कृत्य हो जाए तो वेदांत के श्रवण की मनन की निधिध्यासन की कोई जरूरत न रहे और आत्मदर्शन हो जाने पर भी ब्रह्मात्मय के दर्शन न हो आत्मा का अस्तित्व आत्मा का प्रकाश है ना ये जो आत्मा जानाती है ना तो जानता है ये आरोपित है बोला आत्मा अस्ति ये आरोपित है आत्मा प्रियते का ये भी आरोपित है आरोपित कैसे है का अंतकरण में ही अस्थि वृत्ति जानाती वृत्ति और प्रियते वृत्ति ये उदय होती है अस्थि माने है है ना ऐसी वृत्ति और जानाती माने जानता है ऐसी वृत्ति और प्रियते प्रसन्न होता है तृप्त होता है ऐसी वृत्ति ये तीनों वृत्ति अंतकरण में ही कल्पित होती हैं तो अब देखो अपने बारे में अस्थि और दूसरे के बारे में अस्थि ये दो तरह का प्रत्यय अंतकरण में होता है तो अपने बारे में जो अति प्रत्यय है वो कारण है वो आश्रय है वो आधार है और दूसरे के बारे में जो अस्थि प्रत्यय है वो कार्य है घटा हस्ती और अहम अस्मी घड़ा है और मैं अहम अस्मी पूर्वक घटा मैं हूं तब घड़ा है मैं अगर नहीं हूं तो घड़ा नहीं हो सकता मेरे होने पर ही घड़ा हो सकता है और अहम जानामी में जानामी में जानाती में दो प्रत्यय है अहम आत्मानम जानामी अहम घटम जानामी मैं अपने को जानता हूँ और मैं घड़े को जानता हूँ यहाँ आत्मज्ञान पूर्वक ही घड़े का ज्ञान होगा प्रिय प्रिया यह प्रिय है मैं तृप्त हो रहा हूँ तो अहम प्रीति पूर्वक ही अन्य से प्रीति होगी मैं से प्रेम होगा तब दूसरे से प्रेम होगा अपने को जानेंगे तब दूसरे को जानेंगे और मैं होगा तब दूसरा होगा ये देखो इसी का नाम कार्य कारण भाव है दूसरे के होने के लिए मेरा होना जरूर जरूरी है दूसरे को जानने के लिए मेरा जानना जरूरी है दूसरे के प्रिय होने के लिए मेरा प्रिय होना जरूरी है अर्थात कारण भाव जो है वो आत्मनिष्ठ है और कार्य भाव जो है वो अन्यनिष्ठ है अब इतनी बात इतनी बात तो युक्ति से तर्क से अनुभव से विचार से समाधि से ये सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं लेकिन वेदांत का कहना है कि ये जो तुमने तीन जुगल बनाए ना घड़े को जानता हूँ अपने को जानता हूँ घड़ा प्रिय है मैं प्रिय हूँ घड़ा है मैं हूं ये छह छह प्रत्यय बनाए ना और ये सब अहमनिष्ठ प्रत्यय हैं बनाए अब इसमें से मैं घट देश घट काल घट वस्तु और अहम देश अहम अंतर देश में हम है वो अहम देश अहम काल और अहम वस्तु तो, अहम ज्ञाता अहम ज्ञान अहम ज्ञे तो, अहम जो है ये प्रयाण प्रिय अहम प्रयाण और अहम प्रिय प्रीति तो जो बनता है ये आरोप दृष्टि से ही बनता है आरोप दृष्टि माने कैसे अंतकरण को अपने आप में आरोपित करके इस अंतकरण से जैसा भासता है वैसा बोलते हैं ये आत्मज्ञान का प्रसंग है वो अतीत देवोपलब्धव्य तत्व भावे न भारत तो यदि हम अपने को सचित आनंद जानते हैं या अस्थि प्रिय रूप जानते हैं है? या होना जानना और प्रियता इन तीनों को अपना स्वरूप जानते हैं तो हम अपने को अंतकरण के आरोप से विनिर्मुक्त करके नहीं जानते हैं क्यों इस आरोप के पूर्व और इस आरोप के बाद इस आरोप के बाहर इस आरोप के भीतर हैं और इस आरोप की शांत दशा और इस आरोप की उद्गम उद्गम दशा ये ये छह विकल्प और बन जाएंगे तो वेदांत यही चीज नहीं बताता है ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए वेदांत ऐसी चीज बताता है जो आरोप को अपने साथ लेकर अंतकरण को छोड़े बिना अंतकरण को बट्टे खाते में डाले बिना करण को उचंत खाते में लिखे बिना अंतकरण के साथ ऐसे ही तादाद में तादात्म्य तो स्पष्ट ही देखने में आता है ना हाँ। अयो दहती लोहा जला रहा है अरे जलाना लोहे का काम थोड़ा ही है जलाना तो आग का काम है परंतु लोह में अग्नि का आरोप हो गया लोह में अग्नि का अभ्यास हो गया लोह और अग्नि का जो विवेक था वो नष्ट हो गया तब न ये मालूम पड़ता है कि लोहा जलाता है लोहा जलाता है ये मालूम पड़ता है क्या क्या आनंद है बोला तो मालूम पड़ता है कि हम गच्छामी मैं चलता हूँ अहम करो मी मैं करता हूँ अहम मी ऐसा जो मालूम पड़ता है कैसा मालूम पड़ता है जाना जानामी कैसे मालूम पड़ता है आम पश्चिम है ना अहम कर अहम अस्मी कैसे मालूम पड़ता है कहीं वही मालूम पड़ता है जो सब जो आत्म वस्तु है ना उसका अंतकरण के साथ तादाद में हो गया है तो अब आपको एक ऐसी अस्थि ऐसी अस्थि का निरूपण आपको सुनाते हैं जो अस्थि देवोपलब्धव्य इतेव इतव शब्द का व्यावर्त देखो बार हाँ, एक विद्वान थे तो उन्होंने कहा कि हम धर्म को सनातन धर्म बिल्कुल नहीं कहते तो क्यों नहीं कहते बोले कि विशेषण जो होता है वो अपने से इतर सजातीय का तक होता है ये नियम देखो शास्त्र के पारिभाषिक नियम है ना अपने से भिन्न और अपने सरित अपने सदृश है ना किसी दूसरे को हटाने के लिए विशेषण लगाया जाता है तो यदि हम धर्म का विशेषण सनातन लगा देंगे तो कोई असनातन धर्म भी होता है ये प्राप्त होगा हाँ, ये तो सनातन धर्म है एक असनातन धर्म होता है बोले नहीं नहीं धर्म कभी असनातन होता ही नहीं इसलिए हम धर्म शब्द का निरूपद प्रयोग करते हैं उसके पहले कोई भी विशेषण है ना शास्त्रीय धर्म बोलेंगे तो एक अशास्त्रीय धर्म भी होगा है ना सनातन धर्म बोलेंगे तो एक विनाशी धर्म भी होगा तो नहीं धर्म कभी विनाशी नहीं होता अग्नि जो है वो अपने धर्म के छोड़ने पर तो अग्नि ही नहीं रहेगा पदार्थांतर हो जाएगा यदि दाहकत्व रूप धर्म को अग्नि छोड़ दे तो अग्नि नहीं रहेगा है? और शैत्य रूप धर्म को यदि जल छोड़ दे है ना तो जल ही नहीं रहेगा अपने धर्म को कोई छोड़ नहीं सकता धर्म तो धर्मी में धर्म तो धर्मी में हमेशा ही रहता है तो ये जो ज्ञान क्रिया आदि धर्म है ना काल की दृष्टि से परिवर्तन देश की दृष्टि से संकोच और विस्तार द्रव्य की दृष्टि से जन्म और मरण इनका होना और इनका जानना और इनमें प्रियता अप्रियता ये सब की सब अंतकरण के साथ तादात्म्य होने के कारण ही भाषते हैं तो एक बार अंतकरण से जुदा करो अपने आप को काल की कल्पना देश की कल्पना वस्तु की कल्पना का जो आधार है अंतकरण जो उनके शांति और उदय का कारण है अंतकरण हाँ, जो उनके होने न होने का स्थान है अंतकरण उस अंतकरण को हाँ, छोड़कर देखो उससे तुम न्यारे हो तो उससे तुम न्यारे हो तो देश काल अपने साथ क्यों जोड़ते हो वेद के तो कि तुम आदेश हो तुम अकाल हो ये तस्मिन अदृश्य अनात्मे अनिरूपे अनिलयने अभयम प्रतिष्ठाम बिंदते तैतरीय तो उपनिषद में आत्मदेव का वर्णन है वो माँ का चार बात देखो क्या अदृश्य अनात्मी अनिरुक्ते अनिलयने आपके बारे में चार बात समझने लायक है दृश्य नहीं है माने अंतकरण से अलग कर लो अपने को बोला अंतकरण और अंतकरण में जितनी देश काल वस्तु की कल्पनाएं हैं उनसे अपने को अलग कर लो ये दृश्य है मैं दृष्टा हूँ मैं स्वयं अदृश्य दृष्टा हूँ अदृश्य तो जैसे अंतकरण का आत्मा मैं हूँ वैसे मेरा भी कोई आत्मा होगा तो बोले कि नहीं अनाथ में तुम्हारा कोई आत्मा नहीं है अगर तुम्हारा कोई आत्मा होगा तो उसको भी तुम जानोगे जैसे ये कल्पना करो कि हमसे पीछे एक परमात्मा नाम की वस्तु है और वो हमारी आत्मा है तो परमात्मा नाम की कोई वस्तु पीछे है और वो तुम्हारी आत्मा है ये जो अंतकरण में कल्पना हो रही है इसके भी साक्षी तुम ही हो मन इससे भी न्यारे तुम हो तो न तो तुमसे कोई अन्य दृश्य है और न तो तुमसे अंतरंग कोई तुम्हारी आत्मा है तो बोले अच्छा बोल के बताओ कहा निरुक्त यहाँ तो वाणी बंद है निर्वचन नहीं कर सकते बोले अच्छा ठीक ठीक एक प्रक्रिया है ये जो दृश्य है, है ये जो आत्मा की कल्पना है और ये जो निरुक्ति है निर्वचन है ये सब जिसमें लीन हो जाते हैं वो अद्वैत आत्मा है बोले नाना पानी लय उसमें किसी का लय वय नहीं होता ज्यो का क्यों ये प्रपंच भागता रहता है देश भी काल भी वस्तु भी अंतकरण भी शरीर भी ये ज्यो का क्यों संपूर्ण प्रपंच भाग रहा है अरे बाबा केवल बुद्धि का परिवर्तन होता है अध्यास मिटता है अध्यास बोला भ्रम मिटता है प्रतीति मिटाना काम नहीं भार मिटाना काम नहीं है जैसे देखो आ, हमको रतनगढ़ में संध्या बंदन करना होता तो हमको जो पश्चिम मालूम पड़ता प्रातः काल हमें जो दिशा पश्चिम मालूम पड़ती उस ओर मुंह करके हम संध्या बंदन करने बैठ जाते और थोड़ी देर में देखते कि उधर से ही सूर्योदय हो रहा है है ना तीन बरस अब भला बताओ हमको पूर्व का ठीक ज्ञान था कि इस दिशा को पूर्व बोलते हैं लेकिन जो भ्रम का संस्कार था ना वो नहीं मिटता हो प्रतीति होती पश्चिम की और होता पूर्व तो ये जो हमें प्रपंच में प्रपंच बुद्धि है ना ये प्रपंच प्रपंचात्म नहीं प्रतीत होता है देह देहात्म नहीं प्रतीत होता है अंतकरण अंतकरणात्म नहीं प्रतीत होता है लेकिन ये अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में ये है नहीं हाँ, जावत बुद्धि जावदन करम है इस भ्रम के संस्कार की अनुवृत्ति होती है है ना और जब अंतकरण भंग हो जाता है तो संस्कार के लिए कोई आश्रय नहीं देता है तो इसलिए अस्तित्वोपलब्ध दिया आओ वेदांत के द्वारा वेदांत के द्वारा अपने आप का अनुभव प्राप्त करो वेदांत का काम बिल्कुल दुनिया से निवाला है कैसे प्राप्त करें बोले दोनों तरह से प्राप्त करो सविशेष रूप से भी और निर्विशेष रूप से भी पहले अंतकरण की उपाधि को स्वीकार करके देखो ये सारी सृष्टि देश काल वस्तु रूप कैसे कल्पना है अस्थि भाव क्या है जानाति भाव क्या है, है प्रीति भाव क्या है का आरोप करके अपने को आनंद रूप से जानो है ना पहले बाद में तत्व भाव जिस तत्व में ये उपाधि सहित सारी औपाधिक कल्पनाएं रहती हैं भात रही है उस अपने को तत्व भाव से जानो तो कहते हैं वो जी जिस वस्तु का जो रूप निश्चित है उसको वो न बदले तो तत्व बोलता है असल में तत्व शब्द तो बड़ा मजेदार चला है कि इसकी उत्पत्ति बड़ी आनंददायक है तत् और त्वा है तत् और त्वा माने त्वाम और सामानाधिकरण माने एक ही विभक्ति का दोनों का होना माने ऐक्य विभक्ति के द्वारा सूचित है एकता वाले जो तत् और त्वम पदार्थ हैं माने जहाँ तत् और त्वम पदार्थ में भेद नहीं है उस वस्तु को तत्व बोलते हैं तत्व तत्व तत्व उसको बोलते हैं कि किसी भी आकार का आरोपित किए बिना जो अधिष्ठान का स्वरूप होता है जैसे मिट्टी में घड़ा टकोरा भुलवा किसी चीज की कल्पना मत करो केवल मिट्टी को देखो वो मिट्टी तत्व है मिट्टी तत्व है उसमें अंगूर आम इमली की कल्पना मत करो सभी दशा की वो मिट्टी है पंचभूत है ऐसी सृष्टि के मूल में जो बीज मूलक भेद मालूम पड़ते हैं ना स्त्री के पुरुष के पशु के पक्षी के इनकी कल्पना छोड़ करके आकार का आरोप किए बिना जो मूल सत्ता का स्वरूप है उसको तत्व कहेंगे है ना उत्पत्ति और विनाश धर्मी जो पदार्थ हैं जो प्रवर्तन और परिवर्तन हैं और जो निवर्तन है प्रवृत्ति है परिवृत्ति है और निवृत्ति है इनके बिना किसी चीज का पैदा होना किसी चीज का रहना किसी चीज का बदलना किसी चीज का मिट जाना ये जो चीजें हैं इनका ख्याल किए बिना जो इनकी मूल धातु है उसको तत्व कहेंगे तो वो मूल धातु कौन है इदम है कि आम है बोले बिना आम के तो इदम होता ही नहीं इसलिए इदम तो अहम में लीन हो जाता है और अहम पना कैसे भाजता है तो अंतकरण के कारण हम भाजता है है ना ये अंतकरण भी तो एक बीज ही है पंचभूत में है तो इस संस्कार युक्त अंतकरण बीज को पृथक करके अपने आप को देखो वो अपना आप ब्रह्म है और इसमें कोई पृथक और अपृथक बीज सत्ता नहीं है बोले भारतीय है भागती है तो, तो नहीं दो अगर पश्चिम पूर्व भाजता है तो भातने दो ज्ञान का भान से विरोध नहीं है ज्ञान तो भानात्मक ही है ज्ञान का केवल भ्रम से विरोध होता है ज्ञान में भ्रम को स्वीकार जबकि भ्रम भी एक ज्ञान ही है विपरीत ज्ञान का नाम भ्रम है ज्ञान का ही नाम भ्रम है भला ज्ञान का ही नाम भ्रम है कैसा ये जो हमारा मन और इंद्रियां दिखाती हैं कि हम बाहर से ज्ञान लेके आते हैं या भीतर से ज्ञान लेके बाहर जाते हैं अपने संस्कार को बाहर प्रकट करते हैं है? और बाहर की चीजों का संस्कार ला करके भीतर देते हैं ये जो तुम्हारे और वस्तु के बीच में जो दलाल प्रकट हो गए हैं है हाँ ये दलाल जो है ये वस्तु के स्वरूप को बिगाड़ देते हैं बिगाड़ के दिखाते हैं है ना हाँ। कम में बिकवाना हो तो उस वस्तु में दोष का आरोप कर रहे हैं है ना और ज्यादा कीमत दिलवानी हो तो उस वस्तु में गुण का आरोप कर रहे हैं ये जैसे दलाल दोष और गुण का आरोप करते हैं इसी प्रकार ये हमारा अंतकरण संस्कारानुसार पदार्थ में गुण और दोष का आरोप कर देता है क्वचित देवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रतिदति अब एक बात इसमें बड़ी मजेदार है आप जैसे देखो पहले आनंद की बात ले लो हम लोग ज्ञान की बात मुख्य रूप से करते हैं हमें बोलना हो तो अविद्या काम कर्म बोलेंगे हाँ। काम अविद्या कर्म नहीं बोलेंगे या कर्म अविद्या काम नहीं बोलेंगे अविद्या काम कर्म बोलेंगे इसका कारण है कि जैसे आनंद है आप पहले आनंद की बात देखो आनंद मालूम पड़ना आनंद की प्रतीति आनंद की अनुभूति तो ऐसा मालूम पड़ता है ना कि एक आनंद है और एक उसकी अनुभूति है, है? लेकिन क्या अनुभूति के सिवाय आनंद नाम की कोई वस्तु कहीं रहती है का आनंद तिजोरी में है और तुम यहाँ हो रुपए में आनंद का आरोप कर दिया जेवर में आनंद का आरोप कर दिया और तुम्हारी श्रीमती घर में है बोले हमारा आनंद तो घर में है तो श्रीमती में आनंद का आरोप कर दिया परंतु आनंद जब मिलेगा तब अनुभूति से अभिन्न ही मिलेगा अनुभूति दूसरे देश में और आनंद दूसरे देश में हो सकता है अच्छा अनुभूति दूसरे काल में और आनंद दूसरे काल में ये हो सकता है, है? अच्छा ये कहो कि अनुभूति दूसरी चीज और आनंद दूसरी चीज ये जरा बता तो दो अनुभूति से पृथक आनंद नाम की वस्तु नहीं है अब इसी प्रकार सत्ता को भी देखो है ना तो कोई चीज है का तो है ये अनुभूति और है वो चीज तो किसी भी चीज का है होना ये अनुभूति से अलग रह करके नहीं हो सकता अनुभूति से न पृथक है का देश है न है का काल है न है वस्तु है ये और ये अनुभूति जो है ये तुम्हारा स्वरूप है और ऐसा स्वरूप है जिसमें देश काल वस्तु रूप प्रपंच जो है वो है ही नहीं उपलब्धि और आनंद आनंद की उपलब्धि अच्छा एक देखो ये भाषा का भेद है वो ब्राह्मण का शरीर क्या होता है ब्राह्मण अलग है और शरीर अलग है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ब्राह्मणी कुमार ब्राह्मणी कुमार का शरीर मार दिया गोली है? कहा से ब्राह्मणी कुमार अलग और शरीर अलग अरे कुमार का ही नाम शरीर है शरीर का ही नाम कुमार है पुरुष की चेतन था तो पुरुष और चैतन्य अलग अलग नहीं है इसका नाम विकल्प होता है इसी को विकल्प कहते हैं कि जो शब्द से अलग अलग मालूम पड़े है ना शब्द से तो अलग अलग मालूम पड़े लेकिन हो गए कई राहु का सिर पुरुष की चेतनता ब्राह्मणी कुमार का शरीर ऐसे आनंद की अनुभूति ये क्या है कि इसमें जो की है ना ये बिल्कुल झूठी चीज है ये विभक्ति विभक्ति माने अलगाव विभक्ति माने अलगाव होता है व्याकरण में भी विभक्ति माने अलगाव होता है कर्ता कर्म करण को अलग करने के लिए उसमें विभक्ति आती है से ने से आदि जो होते हैं ना के लिए ये क्या है कई विभक्ति है अलगाव करने के लिए ब्राह्मण के लिए वैश्य ने धन का दान किया अभी के लिए और ने और धन का का ये सब क्या है तो ये सब विभक्ति है अलगाव करने के लिए आप देखो आनंद की अनुभूति आनंद की अनुभूति आनंद और अनुभूति जुदा नहीं है अनुभूति ही आनंद है अच्छा उधर से कर इधर लो तुम्हारी अनुभूति है अनुभूति में तुम अपने आप को अपने अहम को क्यों जोड़ रहे हो अहम के बच्चे का नाम अनुभव नहीं है अनुभव में विवर्त का नाम अनुभूति में विवर्त का नाम आप अनुभूति के महान समुद्र में है अहम अहम अहम ये तो बुलबुला है बुलबुला हाँ, अनुभूति के समुद्र में तो ये अहम की अनुभूति आनंद की अनुभूति अनुभूति तो अनुभूति है न उसमें दुख है न सुख है न उसमें मैं है न तू है अस्तित्व उपलब्धि और अस्थि इन दोनों को अलग जब करोगे तो तम तुम सत और चित का पेट भाड़ने की कोशिश करोगे सत और चित की इसका अभिप्राय ये है कि हम जब हैं जहाँ हैं जैसे हैं जो हैं परिच्छिता भास रही है कि अपरिच्छिता भास रही है आ, हाँ। अरे पापी पना भास रहा है कि पुण्यपना भास रहा है वो तो सपने की तरह भास रहा है रागी पना भास रहा है कि द्वेषी पना भास रहा है सुखी पना भास रहा है कि दुखी पना भास रहा है ज्ञान भान का विरोधी नहीं है हाँ। जैसे नाटक का दृष्टा जो है वो नाटक के दृश्य का विरोधी नहीं है वो तो प्रत्येक है ना प्रत्येक दृश्य को केवल तमाशा जानने वाला है केवल देखने मात्र का है वहाँ तो कुछ नहीं है जैसे सिनेमा का प्रत्येक दृश्य देखने भर के लिए है कुछ नहीं है वैसे तुम्हारे अनुभव स्वरूप में ये प्रपंच का प्रत्येक दृश्य केवल देखना मात्र ही है कुछ वस्तुता नहीं है तो उपलब्धि और सत्ता को अलग मत करो उपलब्धि उपलब्धि माने ज्ञान हो ज्ञान और सत्ता को अलग क्या करोगे तो क्या होगा कि जड़ और चेतन का भेद भाषने लगेगा और आनंद और अनुभूति का भेद करोगे तब क्या होगा तो भोग्य विषय और भोक्तापन का हाँ, भोक्तापन का भेद भाषने लगेगा और यदि अनुभूति और अनुभाव्य का भेद करोगे है ना तो दृश्य और दृष्टा का भेद भाषने लगेगा अनुभूति और अनुभाव्य का भेद करने से दृष्टा और दृश्य का भेद अनुभूति और आनंद का भेद करने से भोक्ता और भोग्य का भेद है और अनुभूति और सत्ता का भेद करने से जड़ और चेतन का भेद ये उपस्थित हुआ असल में ये सर्वतंत्र स्वतंत्र जो अनुभूति है ना अखंड अनुभूति अखंड अनुभूति उसमें आनंदात्मक भी एक तरंग है दृश्यात्मक भी एक तरंग है जगात्मक भी एक तरंग है मैं तू भी एक तरंग है स्त्री पुरुष भी एक तरंग है स्वर्ग नरक भी एक तरंग है आस्तिकता नास्तिकता भी एक तरंग है हो हाँ, हिंदू मुसलमान भी एक तरंग है सत्ता असत्ता भी एक तरंग है ऐसी ये देश काल वस्तु भी इसकी तरंग है ये आनंदात्मक अनुभूति का अब कहो कि ये तरंग क्या है बोले जैसा जल वैसी तरंग जल अगर तुम्हारा जड़ है तो उसकी तरंग भी जड़ है, है? और चैतन्य यदि चैतन्य है तो अनुभूति है तो उसकी अनुभूति भी चैतन्य उसकी तरंग भी चैतन्य तो बोले उसमें देश काल के रूप में मालूम होता हुआ जो कुछ है वो भी चैतन्य बिना परिणाम का चैतन्य बिना आरंभ का चैतन्य चैतन्य ऐसा है जिसके कोई न बेटा न बाप चैतन्य ऐसा है जिसके कोई बेटा न बाप न पत्नी न भाई न अन्न न धन न शरीर न भोजन ऐसा ये चैतन्य इसी को अनुभूति बोलते हैं ओम शांति